तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मन में परमपिता परमात्मा का स्मरण रखते हुए भावना बनाते हुए उच्चारण करेंगे प्रेमी सज्जनों आर्य अभिविनय के द्वितीय प्रकाश का सैतालीसवां मंत्र आज हमारे सामने है ये मंत्र यजुर्वेद के पहले अध्याय का पांचवा मंत्र है महर्षि दयानंद ने इसको प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया है आर्यों को परमात्मा की किस किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए आर्यों को परमात्मा के प्रति किस प्रकार विनत होना चाहिए अभिविनय होनी चाहिए वो यहां पर कहा गया मंत्र है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामी अग्नि परमात्मा को यहां संबोधित किया गया क्योंकि परमात्मा अग्रणी होता है नेता होता है मार्गदर्शक होता है और उस परमात्मा को संबोधित करते हुए उसका एक विशेषण और दिया गया व्रतपते हे व्रतपते अग्नि हे परमात्मा जो आप व्रत के पति हो व्रतों के पति हो व्रतों के पालक हो आप व्रतों की रक्षा करते हो परमपिता परमात्मा के भी अपने व्रत हैं बहुत से व्रत हैं और वे अपने व्रतों का ठीक ठीक पालन करते हैं परमात्मा कभी भी अपने व्रत से पृथक नहीं होता हम परमात्मा के प्रति पूर्ण आश्वस्त रह सकते हैं कि जिस नियम व्यवस्था के अनुसार उसने हमें चलने के लिए कहा है आदेश दिया है हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमात्मा अपने किसी वचन से दायित्व से अलग नहीं होगा संसार में ऐसा देखा जाता है हम किसी व्यक्ति के कथन के अनुसार आचरण करें वो हमें कहे कि आप ऐसा ऐसा कीजिए उससे आपको ये ये वस्तुएं मैं दूंगा आपको ये ये सुविधाएं दूंगा और सामने वाला उसके अनुसार चले पर कई बार निर्देशित करने वाला उन वचनों से अलग भी हो जाता है उनका पालन नहीं करता तो लोक में संसार में हमारे मन में ये आशंका हो सकती है संशय हो सकता है कि जिसके व्रतों का मैं पालन कर रहा हूं वो उसके बदले में जो वचन दिया है वो पूरा करेगा या नहीं करेगा ये बात माता पिता और बच्चों के बीच में भी लगती है पति पत्नी के बीच में भी लगती है गुरु शिष्य के बीच में भी लगती है राजा प्रजा सबके बीच में लगती है एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में भी लगती है कि सामने वाले ने जो वचन दिया जो कथन किया उसका वो पालन करेगा या नहीं उसको वो निभाएगा या नहीं और संसार में हम इस आशंका से युक्त अविश्वास से युक्त भी अपना जीवन चलाते हैं चलाना पड़ता है क्योंकि पदे पदे ऐसा देखा जाता है किंतु परमात्मा व्रतों का पति है वो अपने व्रतों को वचनों को सदा निभाता है कभी नहीं छोड़ता ऐसे उस आदर्श व्रत के पालन करने वाले अग्नि स्वरूप परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है और परमात्मा का ये स्वरूप क्यों प्रस्तुत किया गया क्योंकि इस मंत्र में प्रार्थना करने वाला आर्य कुछ व्रत का धारण कर रहा है स्वयं व्रत का धारण करने वाला है इसलिए व्रतपति परमात्मा को अग्नि को संबोधित कर रहा है व्रतपति और अग्नि का भी संबंध है जो व्रत का पति होता है वो ही अग्नि हो सकता है जो व्रतों का पालन करता है वो ही अग्नि अग्रणी हो सकता है वो ही पुरोहित हो सकता है वो ही हमारे आगे रह सकता है वही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है संसार में भी जो व्यक्ति अपने व्रतों का पालन करता है जिस भी स्थिति में वो हो वो हमारा अग्नि बन जाता है वो हमारा अग्रणी बन जाता है वो हमारा नेता हमें स्वीकार्य हो जाता है ये व्यक्ति अपने व्रतों का पालन करता है अपने दिए वचनों को निभाता है हम उसके साथ चलने को सहर्ष तैयार हो जाते हैं उसके साथ हम निर्भय रहते हैं उसके साथ रहते हुए हम आश्वस्त रहते हैं आशंका से रहित रहते हैं और उसके कथनों को निर्देशों को हम सहजता से स्वीकार करते चले जाते हैं और वो हमें बंधन नहीं लगता है हम उससे पीड़ित नहीं होते हैं हम उससे बंधन में दबाव में नहीं आते हैं उसके अनुशासन में चलने से हम और स्वतंत्रता और निर्भयता और निश्चिंतता को प्राप्त करते हैं तो परमा परम पिता परमात्मा व्रतपति है वो अग्नि है इसीलिए वो अग्नि है इसीलिए वो हमें अग्नि के रूप में स्वीकार्य है इसी तरह इस जीवन में भी जो भी आर्य व्रतों का पालन करेगा वो अग्नि बनेगा वो अग्रणी बनेगा अन्य उस पर विश्वास करेंगे स्वभावतः होगा तो ऐसे परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है हे अग्नि व्रतपति ये परमात्मा की स्तुति है यहां पर आर्य फिर आगे क्या कह रहा है व्रतम चरिष्यामी मैं भी व्रत का पालन करूंगा व्रत पर चलूंगा जैसे आप चलते हैं आपको मैं जान चुका हूं आप व्रत का पालन करते हैं मैं भी व्रत पर चलूंगा व्रत पालन का लाभ इस व्यक्ति को पता है आर्य को जान चुका है तभी वो व्रत पे चलने की बात कह रहा है व्रतम चरिष्यामी मैं व्रत का पालन करूंगा व्रतों पे चलूंगा ये व्रत कौन कौन से हैं तो महर्षि ने उसको खोला ब्रह्मचर्य व्रत गृहस्थ व्रत वनप्रस्थ व्रत और संन्यास व्रत ये चारों व्रत हैं इनमें बहुत सा नियम अनुशासन हमें पालन करता करना होता है इनमें से प्रत्येक आश्रम का पालन अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है इन आश्रमों में जाना रहना ये केवल बाह्य स्वरूप और आचरण तक सीमित नहीं है कि ब्रह्मचारी घर छोड़ करके गुरुकुल में आ गया विद्यालय में आ गया और ब्रह्मचर्य का उसका व्रत पूरा हो गया ब्रह्मचर्य का अनुशासन होता है उसके नियम होते हैं उनके पालन की बात है इसी तरह गृहस्थ भी व्रत है परस्पर सहमति से साथ रह रहे हैं विवाह कर लिया है खाना पीना उठना बैठना साथ चल रहा है इतना मात्र गृहस्थ नहीं है इसमें भी व्रत हैं परस्पर प्रतिज्ञाएं हैं एक दूसरे के प्रति पति पत्नी की बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं प्रतिज्ञाएं हैं बच्चों का मैं ऐसे ऐसे पालन करूंगा इसलिए मैं संतान को पैदा कर रहा हूं इसलिए मैं संतान बना के राष्ट्र को दे रहा हूं बहुत व्रत हैं गृहस्थ भी व्रत है जो व्यक्ति ये सोचे कि मैं इस अध्यात्म मार्ग पे या तो वैराग्य के मार्ग पे तो नहीं चल सकता इसलिए गृहस्थ में जा रहा हूं गृहस्थ भी कम नहीं है व्रतों का पालन वहां भी है नियम अनुशासन वहां भी है जो उन नियमों का पालन कर रहा है वो गृहस्थी व्रति है यही बात वानप्रस्थ के लिए भी है सब कार्य छोड़ करके सेवानिवृत्त होकर के अब तो बस भगवान का भजन करना है आराम से रहना है भगवान का भजन भी नाम मात्र के लिए थोड़ा करना है वो कर दिया ये वानप्रस्थ नहीं है वानप्रस्थ भी कर्तव्यों का पालन है उसके अपने अनुशासन है उसका अपना संयम है वो भी एक व्रत है और इसी तरह सन्यास भी बहुत बड़ा व्रत है पिचहत्तर वर्ष की आयु हो गई अथवा कुछ अन्य कार्यों से निवृत्त हो गए और लाल कपड़े ले लिए दीक्षा ले ली ये सन्यास नहीं है मात्र तो भाई ये रूप है सन्यासी के भी बहुत कड़े नियम होते हैं बहुत बड़ा संयम होता है उन इन व्रतों को महर्षि ने व्रत शब्द से लिया है और इसमें पूरा जीवन आ गया हमारा बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये जो जीवन है ये व्रतमय है इसमें व्रतों का पालन हमें करना है व्रत के नाम से जो समाज में बहुत कुछ प्रचलित है किसी ने एक दिन का उपवास किया मंगलवार का और किसी का अमावस्या पूर्णिमा का उसको भी व्रत कहते हैं ये सामान्य व्रत है यहां जिस व्रतपति परमात्मा को संबोधित करके व्रत लिया जा रहा है ये बहुत बड़ा व्रत है और उस व्रत का स्वरूप आगे मंत्र में भी बताया है तो हे अग्नि व्रतपते व्रतम में मैं व्रत को पालन करूंगा भागूंगा नहीं इससे ये आपका दिया हुआ अनुशासन है ये चार आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास इनसे भागूंगा नहीं मैं जो इनसे भागता है वो आर्य नहीं है इन चारों में जाना अनिवार्य नहीं है किंतु <clears throat> इन चार में से किसी न किसी में रहना अनिवार्य है आर्य के लिए ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाए या ना जाए ये स्वतंत्रता है ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में भी जा सकता है लेकिन रहेगा इन चार में से ही दो में ब्रह्मचर्य आश्रम में और संन्यास आश्रम है व्रतपति तो व्रत का पालन तो उसे भी करना होगा व्रतपति बनना होगा और जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाता है उसके लिए वानप्रस्थ में जाना भी आवश्यक है उसका व्रत है यदि वानप्रस्थ में नहीं जाता है तो वो आर्य नहीं है आर्य को ये पालन करने योग्य ही है ये आर्यों की अभिविनय है अनार्यों की नहीं और यही ईश्वर का आदेश है तो अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामी अब प्रार्थना क्या है मंत्र का शीर्षक दिया महर्षि ने प्रार्थना ये प्रार्थना का अंश अब आगे आता है तत्शकेयम मैं उसको कर सकूं आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए आप मुझे ऐसी सहायता प्रदान कीजिए आर्य इस व्रत को जानता है इस व्रत के लाभ भी जानता है साथ में अपनी सामर्थ्य को भी जानता है मैं ऐसा कर सकता हूं तभी वो व्रत ले रहा है व्रतम में किंतु इसके साथ साथ उसे ये भी पता है कि परमात्मा की सहायता के बिना परमात्मा का आश्रय लिए बिना मैं इस व्रत का पालन पूरी तरह नहीं कर पाऊंगा इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है तत्शके हम वो मैं कर सकूं आप ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए दया कीजिए मुझे सहयोग दीजिए और वेद मंत्र के इतने अंश का यह भी अभिप्राय है कि जो भी व्यक्ति जो आर्य इन व्रतों का पालन करता है व्रत लेता है परमात्मा उसको समर्थ बनाता है परमात्मा उसकी सहायता करता है और जो इन व्रतों का पालन कर रहा है वो आर्य इस गर्व को कभी नहीं करता कि मैं अपनी सामर्थ्य से मात्र अपनी सामर्थ्य से इसको पालन कर रहा हूं उसे सतत भान रहता है कि ये जो मैं कर पा रहा हूं इसमें परमात्मा की सहायता बहुत है परमात्मा का दिया ज्ञान परमात्मा के दिए उपकरण परमात्मा के दिए गए भोग के साधन वस्तुएं ये सब विद्यमान है तब मैं कर पा रहा हूं इतने कठोर व्रत का पालन करते हुए भी इन चार आश्रमों का यथावत पालन करना बहुत कठोर व्रत है और इतना करने के बाद भी वो गर्व में नहीं है कि मैंने ये किया है अकेले ने परमात्मा की सहायता यहां मिली है मुझे तब मैं ये कर पाया हूं और परमात्मा सहायता करता है उनकी तत्शके हम वो मैं कर सकूं तन्मे राध्यताम उसमें मेरी को इसमें सफल बनाइए आप मैं कर सकूं तन्मे राध्यताम वो मेरी सिद्धि हो ये प्रार्थना का अंश होगा और व्रत क्या है वो अंतिम अंश में बताया इदम अहम यह मैं ये तत्परता को बताने में ये मैं ये मैं तत्पर विद्यमान बिल्कुल अभी इदम अहम यह मैं अनृता अनृत से असत्य से सत्यम उपयमी सत्य को प्राप्त कर रहा हूं तत्परता पता लग रही है इस वाक्य से इदहम अहम अनृतात सत्यम उपयमी ये मैं प्राप्त कर रहा हूं इन व्रतों का पालन करते हुए मैं अनृत को छोड़ के सत्य को पालन कर रहा हूं इन व्रतों का पालन करते हुए मैं अनृत की ओर नहीं जा रहा हूं इसे भी व्रत के रूप में कह सकते हैं कि मैं अनृत को छोड़ के सत्य की तरफ जा रहा हूं यही मेरा व्रत है महर्षि ने अंतरित शब्द का क्या अर्थ खोला इन अनित्य देहादि पदार्थों से पृथक होके अंतरित क्या कहा इस देहादि अनित्य पदार्थों से पृथक होकर के एक अंतरित का अर्थ हम असत्य लेते हैं अविद्या लेते हैं वो भी अर्थ है तो इन देहादि से पृथक होकर के तो कहा जाएगा हमारी परिकल्पना कहा जाती है मुक्ति की जहां ये शरीर छूट जाता है लेकिन महर्षि मुक्ति में नहीं भेज रहे हैं यहां पर ये ध्यान देने की बात है ये क्या कह रहे हैं इनसे पृथक होकर के कहा जाऊं यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादि लक्षण धर्म को प्राप्त होता हूं मुक्ति नहीं कहा विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को प्राप्त होता हूं यह है सत्य तो अब इस भाषा को समझना आवश्यक है क्या विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को हम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हम शरीर से पृथक हो जाएंगे बिना शरीर के तो हम कैसे कुछ विद्यादि को प्राप्त कर सकते हैं धर्म को प्राप्त कर सकते हैं धर्म का आचरण कर सकते हैं शरीर तो चाहिए हमें शरीर से पृथक नहीं हो सकते लेकिन महर्षि कह रहे हैं अनित्य देहादि पदार्थों से पृथक होकर के इस यथार्थ विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को प्राप्त होता हूं महर्षि का भाव समझने की आवश्यकता है शरीर से पृथक होकर के तो विद्यादि को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता इसलिए शरीर से पृथक होने का वो अर्थ नहीं है जैसा हम प्रथम दृष्टिया यहां से ले लेते हैं इस शरीर को छोड़ करके शरीर में रहते हुए शरीर को शरीर के भोगों को अपना लक्ष्य न बनाते हुए ये शरीर से पृथक होना है ये बोध होना कि मैं आत्मा हूं ये शरीर नहीं हूं ये शरीर से पृथक होना है ज्ञान के स्तर पर यदि हम इस शरीर को ही मैं मानते रहेंगे यही मैं हूं मेरा स्वरूप यही है तो हम उस विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जहां ये आर्य को पहुंचना है इस शरीर को मैं मान करके हम कितना भी ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें तो उस विवेक और विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते धर्म को नहीं प्राप्त कर सकते जहां पहुंचने के लिए हमें यह शरीर मिला है इस शरीर को मैं मानते हुए हम जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे जो साधन प्राप्त करेंगे जो मेहनत करेंगे वो केवल इसी के सुख साधनों के लिए होगी इसी शरीर को लक्ष्य बना करके वो सारी काम में ली जाएंगी यही भौतिकवाद है इस शरीर के लिए जो हितकर है वो करेंगे इस शरीर के लिए जो सुखकर है वो करेंगे शरीर ही हमारा केंद्र बना रहेगा और उसे मान करके कितना भी कोई पढ़ ले कितना भी अनुसंधान कर ले कितनी भी पुस्तकें लिख दे कुछ भी कर ले जैसा कि विज्ञान करता है वो ज्ञान विज्ञान गलत नहीं है ज्ञान विज्ञान है वो भी भौतिक पदार्थों का विज्ञान है वो लेकिन दिक्कत कहां है बाधा कहां होती है कि वो इस शरीर को मैं मानते हुए विकसित किया गया है उसको पढ़ने वाले उसका उपयोग इस शरीर को मैं मानते हुए करते हैं इसलिए वो रास्ता मुक्ति तक नहीं जाता वो बंधन का ही रास्ता है ज्ञान विज्ञान के होते हुए भी वो रास्ता यही हमें घुमाता रहेगा जन्म मरण के चक्र में क्योंकि वो शरीर को मैं मानते हुए चल रहा है ये आर्य समझता है कि आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है अब इस दृष्टि से महर्षि की पंक्ति देखिए कि इस अनृत अर्थात अनित्य देहादि से पृथक होकर के इसको लक्ष्य न बना करके इसको साधन को साधन के रूप में ही समझते हुए मैं विद्यादि लक्षण युक्त धर्म को प्राप्त होता हूं इन व्रतों का पालन किस लिए ब्रह्मचर्य आदि इन व्रतों को पालन करते हुए आर्य को यह बार बार अनुभूति होगी कि शरीर अलग है मैं अलग हूं उसने सुना शरीर अलग है आत्मा अलग है और अब ब्रह्मचर्य में वो जो जिन नियमों का पालन कर रहा है उसे वो पूरे समझ में आएंगे कि नियम क्यों बने हुए हैं ये केवल शरीर को ध्यान में रख के नहीं बने ये आत्मा को ध्यान में रख करके भी बने शरीर के लिए भी जो नियम बने हैं वो इसलिए ताकि आत्मा का हित हो अब उसे ब्रह्मचर्य के नियम समझ में आएंगे जो शरीर को ही मैं मानता है उसको ब्रह्मचर्य के नियम समझ में नहीं आएंगे उनका लाभ समझ में नहीं आएगा वो उसे स्वीकार नहीं कर पाएगा यही बात गृहस्थ के नियमों के लिए है जो व्यक्ति इस शरीर को ही मैं मानता है वो गृहस्थ के जिन नियमों को समझेगा वो बिल्कुल अलग होंगे और जिस आर्य ने ये समझ लिया है कि मैं शरीर से भिन्न हूं आत्मा हूं और मैं इस शरीर साधन को उपयोगी बनाते हुए गृहस्थ में जा रहा हूं अब उसको गृहस्थ के सभी नियम ऋषियों के बताए हुए ईश्वर के बताए हुए बिल्कुल ठीक लगेंगे उचित लगेंगे नहीं तो लगेगा ये फालतू की बातें लिखी हैं गृहस्थियों के लिए ये भी कोई नियम होता है गृहस्थियों के लिए अगर ये नियम है तो फिर गृहस्थ क्या हुआ वो फिर विवाह किस लिए किया था वो ये समझेगा ऋषियों की दृष्टि वेद की दृष्टि व्यक्ति को तभी समझ में आएगी जब ये यथार्थ समझ में आए कि आत्मा शरीर से पृथक है ये शरीर आत्मा के लिए है ये शरीर आत्मा नहीं है मैं नहीं हूं तो आर्य जो इन व्रतों का पालन कर रहा है वो साथ में क्या पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं इस अनित्य देहादि से पृथक होकर के अविद्या विद्या लक्षण युक्त इस धर्म को प्राप्त होता हूं और इन व्रतों को पालन करते हुए आश्रमों को पालन करते हुए उसे और और दृढ़ होता जाता है कि मैं इस शरीर से पृथक हूं अभ्यास करता चला जाता है अभ्यास करता चला जाता है उनके अनुसार नियमों का पालन करता जाता है इतनी स्थिति में चलता हुआ आर्य ईश्वर का सच्चा पुत्र ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तन्मे राध्यताम मुझे इसमें सफल कीजिए मैं इसमें समर्थ हो सकूं और प्रेम भाव से परमात्मा को यह भी वचन कहा गया कि आपकी जो ये इच्छा है कि मैं ऐसा करूं वो आपकी इच्छा पूरी हो सके आर्यों के लिए आज जो आर्यभिविनय में मंत्र रहा उस भावना को मन में रखें आर्यों को ये भावना रखनी ही चाहिए हे व्रतपते अग्नि जब भी परमात्मा को हम संबोधित करें तो मन में रहे कि वो व्रतपति है और इसलिए वो अग्नि है व्रतम चरिष्यामी व्रत का मैं पालन करूंगा जिस भी आश्रम में हूं उसके व्रत का पालन करूंगा तछकेयम मैं उसको कर सकूं तनमे राध्यताम आप मेरी रक्षा कीजिए वो पूर्ण कीजिए उसको मैं इस अनृत से सत्य को प्राप्त कर रहा हूं यही जीवन की सफलता है मन में आर्यों के इस भाव को रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण और फिर शांति पाठ ओ